क्या ऐसा हुआ हर्ष ने चौंकते हुए कहा तो अब केशव पंडित के साथ डील करना चाहता है विक्रांत ने कहा सो पुलिस चाहती है कि मैं केशव को क्लीन चिट दूं तभी वो उस कातिल को पकड़ने में पुलिस की मदद करेगा जो कि उसके कहानी के अनुसार लोगों का खून कर रहा है मतलब कि केशव पुलिस के साथ डील करके खुद को बेकसूर साबित करवाना चाहता है ये सुनकर सभी अवाक रह गए उन सभी का इंटरेस्ट इस केस में जग उठा था वैसे मानना पड़ेगा जितनी अजीब चीजें होती हैं वो विक्रांत सर के साथ ही होती है हर्ष ने बड़ी सावधानी के साथ कार को ड्राइव करते हुए कहा अच्छा क्या पता ऐसा हुआ हो कि केशव ने खुद ही अपने नॉवल की स्टोरी के अनुसार लोगों का मर्डर किया हो विक्रांत ने तुरंत ही जवाब दिया अच्छा उसने कहा है कि वो अपने नॉवल की पूरी स्टोरी सिर्फ मुझसे मिलने के बाद ही बताएगा और उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसके नावल की स्टोरी सीरियल किलर पर आधारित है तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जल्द से जल्द इस केस पर काम करना शुरू नहीं किया तो फिर आगे और भी लोगों का मर्डर हो सकता है ओ तभी तो डिवीजन चीफ मैडम ने खुद ही आपके पास कॉल किया था अनुष्का ने कहा उन्हें लग रहा होगा कि हम लोग गाजियाबाद वाले केस को छोड़कर नहीं जाएंगे इसलिए आपको मनाने के लिए उन्होंने खुद ही कॉल कर दिया केशव पंडित अभी जेल में है विक्रांत ने अनुष्का की बात खत्म होने से पहले ही कहा अगर उसकी मानसिक स्थिति सही है तो वो इस तरह की झूठी कहानी कदापि नहीं बनाएगा वो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस साले ने पुलिस के साथ डील कैसे कर लिया इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसकी हर्ष ने हैरत से भरे लहजे में कहा हर्षन ने फिर कहा मुझे एक चीज तो कन्फर्म पता है पुलिस बिना किसी कारण के किसी भी शख्स को इतने दिनों तक जेल में नहीं रखेगी फिर अनुष्का ने कहा अच्छा मुझे एक और चीज समझ में आ रही है अगर पुलिस ने केशव को गलत इल्जाम में गिरफ्तार किया है और केशव निर्दोष है तो फिर हो सकता है कि किसी ने उसे फंसाया हो और इस सिचुएशन में ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है रूही ने भी अनुष्का की बातों से सहमति जताते हुए कहा हाँ आदमी ने खुद ही हेल्प के लिए सर को बुलाया है तो जाहिर है केस नॉर्मल तो नहीं है हम्म विक्रांत अपनी टीम मेंबर्स की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था उसने सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद कहा हम्म फिर तो हमें अभी जयपुर के लिए निकलना पड़ेगा हाँ अभी गाजियाबाद वाले केस को छोड़ो अभी हमें जयपुर के लिए निकलना पड़ेगा होटल में विक्रांत ने नैना से फोन पर बात करते हुए कहा अभी वेदर खराब है तो फ्लाइट कैंसिल चल रही है सो क्रिमिनल डिवीजन ने हम लोगों के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया है वहाँ जयपुर स्टेशन से कार से चलना पड़ेगा विक्रांत ने फोन पर नैना से बात करते हुए कहा विक्रांत ने फिर कहा अच्छा ये केशव पंडित का नाम सुना सुना सा लग रहा है मैंने इसकी एक दो नॉवल का नाम भी सुना हुआ है इसने अब तक 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं दो किताब पर तो फिल्म भी बन चुकी है लेकिन फिल्म हिट नहीं हुई थी वरना ये आदमी जयपुर में ना सड़ रहा होता विक्रांत के चेहरे पर खुशी का भाव साफ देखा जा सकता था उसने कहा मुझे तो लग रहा है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है वरना क्रिमिनल का नॉवल लिखने वाले का मर्डर का सस्पेक्ट बनना अजीब बात है ना हाँ है ना तुम बिल्कुल सही टाइम पे लौट के आई हो अब हम लोग जितनी जल्दी ये केस क्लोज कर लेंगे उतनी जल्दी हम गाजियाबाद वाले केस का काम शुरू कर सकते हैं नए साल के पहले अगर हम गाजियाबाद वाले केस को शुरू कर देंगे तो सही रहेगा केस के बारे में थोड़ी देर बात करने के बाद विक्रांत और नैना कुछ देर तक अपनी पर्सनल बातें करते रहे काफी देर तक बातें करने के बाद विक्रांत ने नैना से कहा अच्छा चलो अभी बहुत लेट हो गया है अभी आराम करो कल सुबह हम स्टेशन पर मिलते हैं बाय फोन रखने के बाद विक्रांत ने फिर से अपने फोन को खोलकर उसमें पड़े वीडियो को देखना शुरू कर दिया उसने वीडियो में देखा केशव पंडित एक अधेड़ उम्र का शख्स था उसके सिर के बाल बिल्कुल खत्म हो चुके थे उसने अपनी आंखों पर काले रंग के मोटे फ्रेम का चश्मा पहन रखा था देखने में ही वो काफी दिमाग वाला और शातिर नजर आ रहा था वीडियो में दिए गए अपने बयान में वो बार बार यही कह रहा था कि वो निर्दोष है उसने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ शादी के दस साल बाद तक बेहद खुशी खुशी रह रहा था ऐसे में उसका मर्डर करने के लिए उसके पास कोई रीजन नहीं था नोटिस करने वाली बात यह है कि वो अवार्ड विनर क्राइम नॉवलिस्ट था ऐसे में अगर उसे किसी का मर्डर करना होगा तो वो बहुत व्यवस्थित ढंग से इस काम को अंजाम देगा उदाहरण के लिए वो हथियार पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ने जैसी गलती तो कतई नहीं करेगा इस कारण से ऐसा लग रहा था कि केशव को किसी ने जानबूझकर फंसाया है खुद को निर्दोष साबित करने के लिए वो अपने साथ सीरियल मर्डर वाली बुक भी लेकर बैठा हुआ था उसने कहा कि उसके पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि किसी अनजान आदमी ने मर्डर किया है और वो नॉवल की स्टोरी लाइन के ही अकॉर्डिंग लोगों को मार रहा है उसने पुलिस को चेतावनी तक दे डाली है कि अगर कातिल को जल्द से जल्द ना रोका गया फिर वो आगे और लोगों का भी मर्डर कर सकता है केशव ने यही धमकी देकर पुलिस को खुद के साथ डील करने के लिए मजबूर किया हुआ था यही नहीं उसने बाकायदा अपने बयान में विक्रांत का नाम लेते हुए कहा कि उसके केस की इन्वेस्टिगेशन हेडलेस फीमेल वाले केस को सॉल्व करने वाले विक्रांत सक्सेना से ही करवाया जाए उसे सिर्फ इस वक्त विक्रांत पर ही भरोसा था उसकी नजरों में सिर्फ विक्रांत ही ऐसा था जो कि उसे निर्दोष साबित कर सकता है केशव के बयान वाली वीडियो को कई बार देखने के बाद विक्रांत ने केशव की डिटेल इन्फॉर्मेशन को एक बार फिर से पढ़ना शुरू किया डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उसकी उम्र महज 35 साल ही थी लेकिन देखने में वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा था वहीं उसके ऑक्यूपेशन के सामने फुल टाइम राइटर लिखा हुआ था क्रिमिनल रिपोर्ट के मुताबिक आज से तकरीबन तीन महीने पहले पुलिस को कहीं से रिपोर्ट मिली इसके बाद लोकल पुलिस सीधे केशव पंडित के घर पहुंची जहां से उसकी पत्नी किरण पंडित की डेड बॉडी बरामद हुई वो अपने बेड पर मरी पड़ी थी और उसके ठीक बगल में केशव पंडित भी उसके खून से सना हुआ मिला था क्राइम सीन की रिपोर्ट के मुताबिक किरण पंडित की मौत उसके हाथ की नस काटने की वजह से हुई थी नस कटने के बाद उसके हाथ से काफी ज्यादा खून बहा और फिर अंत में उसकी मौत हो गई उसकी कलाई को फ्रूट काटने वाले चाकू से काटा गया था और क्राइम सीन पर वो चाकू उसके पति केशव पंडित के हाथ से बरामद हुआ था जाहिर है कि इस तरह से केशव पंडित को ही इस केस का मुख्य आरोपी बनाकर उसके खिलाफ केस चलाया गया बाद में जब फॉरेंसिक टेस्ट किया गया तो पता चला कि केशव पंडित का फिंगरप्रिंट चाकू पर है आगे के टेस्ट में ये बात सामने भी आई कि जिस वक्त किरण पंडित का खून किया गया उस वक्त उनके ब्लड में स्लीपिंग पिल्स का भी अवशेष था कहने का मतलब उस वक्त किरण पंडित गहरी नींद में थी कातिल ने पहले उन्हें नींद की गोली खिलाकर बेहोश किया था उसके बाद उनका मर्डर हुआ था उस वक्त पुलिस को इस केस में कोई और सबूत भी नहीं मिला था और ना ही पुलिस को कोई संदिग्ध नजर आ रहा था ऐसे में पुलिस ने केशव पंडित को ही प्राइम सस्पेक्ट मानकर उसे जेल में डाल दिया हालांकि जब से केशव को पुलिस ने अरेस्ट किया है तब से लेकर अब तक वो सिर्फ एक ही बात कहता आ रहा है कि मैं निर्दोष हूँ पुलिस खुद इस केस को लेकर काफी कंफ्यूज है उनके पास ना तो ज्यादा एविडेंस है और ना ही कातिल तक पहुंचने का कोई पुख्ता सबूत ऐसे में पुलिस में अपनी पीठ थपथपाने के लिए केशव पंडित को ही बलि का बकरा बना रखा है शुरुआत में केस स्टडी करने पर तो यही समझ में आ रहा है